بسم الله الرحمن الرحيم والتعقيد اي कौन الكلام معقدا تعقيد किसको कहते हैं कलाम का मुआफ़द होना कलाम का पेचीदा होना क्या है वो अन कलाम ज़ाहिर दलालती ये है कि कलाम दलालत ना हो उसकी दलालत ज़ाहिर ना हो किस पर अलल मुरादिल अलल मुरादी मुराद पर जो मान मुरादी है जो उससे मफहूम और मुराद है जो उससे मुराद है तो उस पर कलाम दलालत नहीं कर रहा हो क्यों ली खालिन किसी खलल की वजह से वाक़िन इम्मा फिन नज़मी या तो वो खलल वाक़ हो नज्म के अंदर आगे आ रहा है इधर इक्कीस सफ़े पर व इम्मा फिल इंतकाली या खलल वाक़ हो इंतकाल में मुंतकिल करने में माने अव्वल से माने सानी की तरफ पहले यहाँ समझो कि कलाम मुआक़द हो उसके अंदर पेचीदगी हो वो अपने माने मुरादी पर ज़ाहिर दलालत न हो तो ये खलल होगा या तो नज़म के अंदर किस वजह से होगा बतलाया था कि मुकदम करने की वजह से तो मुकदम नहीं करना चाहिए था उसको मौखर करना चाहिए था मुकदम कर दिया या मौखर करने की वजह से या हज की वजह से या इजमार जमीन लाने की वजह से जिसने जाहिर न जिक्र किया या इसके अलावा जैसे फजल बिल अजनबी हो मुबतदा और ख़बर के दरमियान मौसू और सिफत के दरमियान तो इन चीज़ों की वजह से इसके अंदर दुशारी पैदा हो जाती है फरमा रहे यूजिब सूबता शामिल मुरादी उन चीज़ों में से उसके अलावा उन चीज़ों में से जो मुराद के समझने में दुशारी पैदा कर देती है दुशारी को साबित करती है कौल हाँ? उन चीज़ों में से शीशे से जोड़ रहा है कि बेसबक तकदीब मुकदम करने या मौखर करने या हज करने या जमीन लाने या उसके अलावा की वजह से उसके अलावा उन चीज़ों में से जो मुराद के समझने में दुशारी पैदा कर देती हैं दुशारी को साबित करती हैं कौल फरज दफी जैसा कि फरज दफ़ शायर का शहर फी मदही खाली हिशाम इबन अब्दुल मलिक इबनी मरवाना देखो ये फरजदक एक शायर है इसने एक शेर कहा है Hisham ibn Abdul Malik ibn Marwan के मामू इब्राहिम इबन हिसाम इबन इसमाइल मखजूमी के बारे में हिसाम नाम है बादशाह का और ये हिसाम भांजा है इब्राहिम का इब्राहिम मामू है हिशाम भांजा है फरजदक ने तारीफ करनी चाहिए किसकी फरजदक ने तारीफ करनी चाहिए हिशाम के मामू इब्राहिम आगे जो शहर आ रहा है उसके अंदर तारीफ की है लेकिन जो तारीफ की है उसकी तरकीब उलट पुलट है उसके अंदर अजनबी के फसल आ रहे हैं दरमियान में मुबतदा और ख़बर दोनों मिले हुए होते हैं और ये बीच में दूसरा लफ्ज लेकर आ गए मौसू सिफत दरमियान में मिले मौसू सिफत आपस में मिले हुए होते हैं ये दरमियान के अंदर कोई और चीज़ लेकर आ गए तो ये शेर पेश किया है और इस शेर के अंदर क्या पैदा हो रही है ताक़ीद पैदा हो रहा है और उनकी वजह क्या है जो वजह जिक्र की जा चुकी है उसको शेर के अंदर हमें समझना है देखो शेर अबू उम्मी अबू अगर शेर का तर्जमा इसी तरह किया जाए तो मतलब कुछ जाहिर नहीं होता समझने में दुश्वारी पैदा होती है देखो और उसके मिसल यानी उसके मिसल का मतलब इब्राहिम जो है उनके मिसल और उसके मिसल यानी इब्राहिम के मिसल फिन नासी लोगों में नहीं है इलाम मुमल्लकन मगर एक बादशाह है अबू उम्मी ही उसकी माँ का बाप हयुर जिंदा है अबू हो उसका बाप जो कारिब हो जो उसके करीब है के अनुसार है कोई बात तो समझ में नहीं आई असल शेयर क्या है सही वो ये है ये तो वही है जो ऊपर आ चुका असल ये है लईसा मिसलहू ये माँ मुशाब बिलईसा है लईसा मिसलहू फिर फिन्नासी हयुन युकारिबू इल्ला मुमल्लकुन अबू उम्मी अबूहू उसके मिसल यानी बादशाह इब्राहिम के मिसल लोगों में कोई ऐसा जिंदा नहीं है जो उसके मुशाबे हो करीब यानी उसके मुशाबे हो लोगों में इब्राहिम के मिसल कोई ऐसा जिंदा नहीं है जो उसके मुशाबे हो इलामकुन मगर एक बादशाह है मगर एक बादशाह है वो बादशाह कौन है इन हिसाम का अरे इब्राहिम का कौन है भांजा है अगर एक बादशाह है अबू मिही के उस बादशाह की माँ का बाप अबू हो उसका बाप है किसका इब्राहिम का हिशाम की माँ का बाप इब्राहिम का बाप है कौन बनेगा हिशाम इनका नाम ठीक है ना तो ये मामू की तारीफ की है इस अंदाज से अरे इब्राहिम की तारीफ किस तरह से की है कि हिशाम जिंदा है कि हिशाम है और हिशाम जो बादशाह है इसके जो मामू है उसको देखो किस तरह से साबित किया है अबू उम्मी ही उसकी माँ का बाप जैसे ये है हिशाम और सहूद इसकी माँ और ये है इसका बाप ठीक है ना तो इसकी माँ का बाप और इसका भाई कौन है यूनुस यूनुस का बाप भी यही है अब बताओ क्या हुआ अरे मामू हो गया ना तो है? किसका देखो अबू अबू उम्मी ही अबू हूँ हिशाम की माँ का बाप हिशाम की अम्मा और उसका बाप वो किसका बाप है इब्राहिम का बाप हिशाम के नाना हाँ, के नाना और जो इब्राहिम है वो कौन है हिशाम की जो अम्मा है उनका भाई है तो कौन हो गया वो इसका मामू बन गया गया तो वही इसके अंदर देखो इसमें ही समझने में थोड़ी सी दुश्वारी हो रही है लेकिन जब इन्होंने आगे पीछे तरकीब कर दी तो उसके अंदर कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें ताकीद पैदा हो गई आगे उसी की वजाहत फरमा रहे हैं क्योंकि इन्होंने उसके मतलब भी साथ साथ बयान किए हैं शार अली रहमान है इसलिए मैंने ये एक मिसाल अलग से यहाँ पर जिक्र कर दी है उसके दरमियान की शुरुआत को काट कर अब वो शराह के साथ में यहाँ किताब के अंदर देख लो आई यानी लईसा मिसलू फिन्नासी हयुन यानी उसके मिसल किसके इब्राहिम के मिसल फिन्नासी लोगों में हयुन युकार अहदन यशबहू कोई ऐसा जिंदा नहीं है जो उसके मुशाबे हो हयुल अहदुल है ना युकारिबू यशबहू कोई जिंदा नहीं है युकारिबू का तर्जुमा यशबहू जो उसके मुशाबे हो उस जैसा हो कायम फजाइल फजाइल ठीक है ना अरे समझ में आ गई है इब्राहिम के मिस्र लोगों में कोई ऐसा जिंदा नहीं है जो उसके मुशावे हो और कोई जिंदा नहीं है जो उसके करीब हो यानी कोई जिंदा नहीं है जो उसके मुशावे हो कायम फिल फवाइली फजीलत फजाइल इल्ला मगर एक मुमल्लक बादशाह मुमल्लक किसको कहते हैं आई रजुल मुल्का यानी वो शख्स ऐसा शख्स जिसको मुल्क दे दिया गया और जिसको मुल्क दे दिया गया वो क्या होता है बादशाह अरे मुमलकुन ये इसमें मफूल ही तो है है ना जिसको मुल्क दे दिया गया यानी मुराद कौन है ईशामन इससे मुराद है इब्राहिम अरे कौन है मुराद कौन है मुराद कौन है मुराद अगर तुमने गलत बताया गया इब्राहिम इब्राहिम ध्यान नहीं है हाँ जिसको मुल्क दे दिया गया ऐसा आदमी वो कौन है यानी हिशामन कौन है हिशाम अबू मिही अबू उम्मी क्या मतलब थोड़ा वजाहत कर दो आई अबू उम्मी जालिकल मुमल्लकी यानी उस बादशाह की माँ का बाप अबूहू उसका बाप है किसका इब्राहिम अल ममदूह यानी इब्राहिम का जो ममदूह है यानी जिसकी तारीफ की जा रही है और लो तशरी अई लायुमासिरहू अहदन इल्ला इब्न उख्ती यानी उसके मिसल इब्राहिम के मिसल कोई नहीं है मगर उसकी बहन का बेटा और उसकी बहन का बेटा कौन है भांजा वह हुआ शाम और वो शाम है बताओ इससे ज्यादा अच्छे सारे कौन सारे कौन होंगे इनसे ज्यादा अच्छे फी ही अब इसके अंदर जो आगे पीछे हो रहा है गड़बड़ थोड़बड़ सी हो रही है तरकीब में वो बदला रहे फी ही फसल बैनल मुबतदा खबरी फस इसके अंदर फसल है मुबतदा और खबर के दरमियान क्या आनी अबू उम्मी ही अबूहू बिल अजनबी यानी अबू उम्मी ही अबूहू का अच्छा अच्छा ठीक है फसल मुबतदाई वाल खबर मुबतदा और खबर के दरमियान फसल है मुबतदा और खबर कौन है आनी अबू उम्मी ही अबूहू मुराद लेता हूँ मैं अबू उम्मी ही अबूहू को क्या अबू उम्मी ही यह मुबतदा है और अबूहू खबर है काय का फसल है बिल अजनबी जी अजनबी का अजनबी क्या है वो भी बतला दो अल्लजी हुआ हयुन वो क्या है हयुन है यहाँ देखो अबू ही मुबतदा और अबूहू खबर है ना और फसल बीच में क्या आ गया दोनों के हाइयून आ गया हालांकि ये दोनों क्या होने चाहिए एक साथ आने चाहिए ठीक है ना समझ गए अरे और आसान क्या ले रहेगा अरे लिख लिख के दिखा दिया समझ में नहीं आया अरे आया समझ अब अजनबी कौन है इसके अंदर सुलेमान कौन है अजनबी अयुन वबैन मौसूफ़ी और सिफती और मौसूफ़ और सिफत के दरमियान भी फसल है आनी हयुन युकारिबू मुराद लेता हूँ मैं हयुन युकारिबू को हयुन मौसूफ़ जुकारिबू सिफत काय का फसल है बिल अजनबी अजनबी का कौन सा अजनबी अल्लाजी हो अबू जो के अबू है हयुन हम्म, मौसूफ़ युकारिबू सिफत और बीच में एक अजनबी का फसल आ गया क्या खबर खबर है अबूहू व तकदीम मुस्तफ़ना आनी मुमलकन अलमस्तफ़ना मिनहू आनी हयन और मुस्तना को मुकदम करना मुराद लेता हूँ मैं मुमलकन को मुस्तना कौन है मुमलकन और किसका मुस्तना मिनहू पर मुस्तना मिनहू क्या है आनी हयन मुराद लेता हूँ मैं हयन यानी हयन क्या है अरे क्या है हयन मुस्तना मिनहू है मुमलक ये है मुस्तना और हयुन है मुस्तना मिनहू तो हयुन पहले होना चाहिए और फिर मुमलक होना चाहिए जैसे यहाँ है नहीं समझलू फिन्ना से हयुन युखारिबू इल्ला मुमल्लक ठीक है ना इस तरह होना चाहिए था लेकिन यहाँ तकदीम तखिर कर दी गई तो मालूम हो रहा है कि यहाँ चूंकि सब चीज़ें हो रही हैं तो इसलिए इसके अंदर ताकीद पैदा हो रही है वफसल कसर बैन बदली वहुआ हयन वलमुबदल मिनह वहुआ मिसलहू और फसल कसर बहुत सारा फसल है कहा बदल हुआ हयन और वो हयन है बदल क्या है हयन है वल वलमुबदल मिनह वह हुआ हो और मुद्दल मिन हो और वह मिसलू है यानी बदल और मुद्दल मिन हो के दरमियान बदल है हयुन और मुद्दल मिन हो है मिसलू कहाँ है माँ मिसलू आ गया हाँ और ये क्या है बदल है हाँ, हाँ हाँ अरे यह है मुब... यह मुबदल मिन हुआ है ना और बदल क्या है हयुन है तो मुबदल मिनू यहाँ है और हयुन यहाँ है कितना सा इसके अंदर फसल हो रहा है तो इन सब की वजह से क्या हो रहा है इसके अंदर पेचीदगी पैदा हो रही है ताकीद पैदा हो रही है तो इन्होंने इसकी ताकीद को इसके अंदर बतला दिया है कि देखो ये सब चीज़ें इसमें हैं तो ये ऐसा कलाम है जिसके अंदर ताकीद है और जिस कलाम के अंदर ताकीद हो तो वो फसाहत से खारिज नहीं होता है अरे फसाहत से खारिज नहीं होता है अरे नहीं होता है नहीं होता हम्म। पहले खारिज हो जाता है अब ये थोड़ी सी तरकीब से बदला रहे हल्की फुल्की सी तो उसको भी देख लो फ़कौलुहु मिसलुहु इसमुमा बस मुसन्फ का कौल मिसलुहु इसमुमा है अम्मा का इसम है अब्बा का नहीं अम्मा का किसका माँ का बस उसका कौल मिसलू ये माँ का इसम है ये ना मिसलू मामुचार बिलीसा इसका इसम है वो फिन्नासी खबरू और ये जो फिन्नाचार है इसकी खबर है आगे वो मुस्तना या मुस्तना मिलू वो मौसू सिफत मुस्तदा खबर ये सब मिल मिलाकर ये इसका इसमें खबर बन कर जो है वो पूरा जुमला बन जाएगा वह फिन्नास खबर और फिन्नासी क्या है उसकी खबर है वह मुमल्लकन बात बताओ यहाँ तो हो रहा है मुमल्लकन इल्ला मुमल्लकन तो यहाँ जब नीचे लेकर आए तो यहाँ कहते इल्ला मुमल्लकन चक्करबाजी क्या है क्या चक्कर है बताओ अरे तुम क्या बताओगे नहीं बताए तुम देख लो किताब में वो मुसनफ साहब कह रहे अल्लाह वह तो मुमल्लकन मनसूब उनकदम ही आल मुस्तना मिन हूँ मुमल्लकन ये मनसूब है उस के मुस्तना मिनहू पर मुकदम होने की वजह से क्योंकि मुस्तना मिनहू पर मुकदम है इस वजह से यहाँ पर ये मंसूब आया है चलो कीला कहा गया है तालीफ का जिक्र करना वो बेनियाज कर देता है ताकीद लफ्जी के जिक्र से बाद लोग ये कहने लगे क्यों किताब इतनी लंबी कर तुमने ताकीद लफ्जी को क्यों जिक्र कर दिया जब जवाफ़ तालीम जिक्र कर दिया था तो जवाफ़ तालीम जिक्र कर दिया अब ताकीद लफ्जी की ज़रूरत ही ना रही किताब छोटी हो जाती बच्चों को भी आसानी हो जाती मुसन्फ आली रहमा कहते हैं अच्छा वफ़ी ही नज़र उन और इसके अंदर नज़र है देखो यहाँ जवाफ़ तारीफ में क्या वजह क्या है अरे जवाफ़ तारीफ किसको कहते हैं मशहूर नाफी कायदे के खिलाफ कलाम का होना लेकिन ये मुसनफ़ साहब इनकी बात को रद्द कर देते हैं देखो किस तरह करते हैं लीजावाजी अन्यासुलत ताकीदा अन्यासुलत ताकीदू है ना इस बात का मुमकिन होने की वजह से कि ताक़ीद हासिल हो बिजतमाही इद्दती उमूर चंद उमूर के जमा हो जाने की वजह से चंद उमूर के जमा करने की वजह से कैसे चंद उमूर मुजिबत फाहमिल मुरादी जो मुराद के फहम को यानी मुराद के समझने को की दुशारी को साबित करने वाले हों व इन काना अगर चे कुल्लु मिनहा जारियन अल कानून नाहवी अगर चे उनमें से हर एक क्या हो नाहव के कायदे पर जारी हो मुसनफ़ आलम रहमे फरमा रहे हैं कि देखो वहाँ तो मसला होता है ज़ौक़ तारीफ के अंदर के नहवी कायदे के ख़िलाफ़ मशहूर नहवी कायदे के ख़िलाफ़ ऐसा हो सकता सकता है कि एक कलाम नाहवी कायदे के तो मुआफ़ हो और उसके अंदर फिर भी क्या हो रही है ताकीब पैदा हो रही है ये तो बिल्कुल हो सकता है मानते हो अरे ऐसा हो सकता है कि कलाम क्या हो नाहवी कायदे के हैं नाहवी कायदे के मुआफ़ हो लेकिन उसके अंदर आगे पीछे करने की वजह से ताकीद पैदा हो रही हो तो आपका ये कहना कि जौफ तालीफ जौफ तालीफ का जिक्र वो बेनियाज कर देता है जौफ तालीफ के जिक्र के बाद अब ज़रूरत नहीं रहती किसी ताकीद को जिक्र करने की ये दुरुस्त नहीं है आगे बिहारा से और ज़्यादा इसकी वजाहत हो रही है इतनी बात समझे अरे इतनी बात समझ भाई क्या है यहाँ पर बात बताओ एक आदमी बताओ कोई तो, तो क्यों नहीं क्यों नहीं जिक्र करते हैं ना ना वो तो पहले इसका हल तीला की वजाहत यानी वो ये कहना चाहते हैं कि देखो जौक तालीफ जब कलाम के अंदर होगा नाहवी मशहूर कायदे के खिलाफ होगा तो उसके अंदर ताखिर होगी तफी जब होगी जब कायदे के खिलाफ होगा तो नहीं ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है कि नाहवी कायदे के खिलाफ हो नाहवी कायदे के मुआफ़ हो लेकिन फिर भी ताकीद पाई जाए नाहवी कायदे के मुआफ़ हो तो अंदर ताफी पाई जाए जैसे यहाँ पर है देखो मुस्तना को मुकदम किया है और मुस्तना बिनों को मौखर किया अरे मल्ला मुस्तना है ना इसमें क्या है और वो क्या है मुस्तना बिनू है तो मुस्तना को मुकदम किया और मुस्तना बिनू को मौखर किया और नाहो के अंदर नाहो के अंदर ये कायदे के मुआफ़ हो यानी इसमें नाहू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसा नाहू के अंदर बहुत होता है कि मुस्तना पहले आ जाता है और मुस्तना में बाद में आ जाता है ये शाय और जाए है है ना लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर ताकीद फिर भी हो रही है तो मालूम हुआ कि नाहू कायदे के मुआफ़ हो उसके बावजूद ताकीद पाई जा सकती है नहीं आई ना तेरी समझ में तीला वालों ने यह कहा कि देखो जोफ तालीफ जब इसको जिक्र कर दिया तो अब ताकीद लफ्जी को जिक्र करने की जरूरत न रही क्योंकि जोफ तालीफ क्या नाहल कायदे के खिलाफ हो नाहल कायदे के खिलाफ होगा तो जब भी तो उसके अंदर ताकीद पैदा हो जाएगी तो इसलिए ताकीद तो खुद ही आई जाएगी जरूरत नहीं कहते कि नहीं ऐसा नहीं है नावी कायदे के मुआफ़ हो तो भी ताकीद हो सकती है चूँकि यहाँ है नावी कायदे के मुआफ़ है मुस्तना पहले मुस्तना में बाद में ऐसा नहब में होता है लेकिन उसके बावजूद क्या है ताकीद है वफी नजर और इसके अंदर नज़र है शुरू इस बात के मुमकिन होने की वजह से कि ताकीद हासिल हो ऐसे चंद उमूर के जमा हो जाने की वजह से जो जो मुराद के समझने की दुशारी को साबित करने वाले हों तो फिर आ गया तो। घंटे के बीच में कल तो कल से आ गया आपसे तो देख लो क्या होगा हाँ घंटे में आइए घंटे के बीच में बताइए वइन काना कुल्लुमिन हुमा जारियन आला कानून अगर से उनमें से हर एक क्या हो के के नहव के कायदे पर जारी हो तो भी ताकीद पाई जा सकती है इसलिए हजरत तीरा वालो अलखाली साहब ये आपका कहना सही नहीं है वह भी हाजा और इसी से जाहिर हो जाता है फसाद उमा उस चीज का फसाद कीला जो कहा गया है क्या कहा गया है ला बयानी ताक़ीद के शहर में ताक़ीद के बयान करने की कोई ज़रूरत नहीं है इला जिक्री तकदीम मुस्तना आलम मुस्तना मिलहू मुस्तना को मुकदम करने के जिक्र की तरफ किस चीज पर अलल मुस्तना मिनहू मुस्तना मिनहू पर बल्ला वजह लहू बल्कि उसकी कोई वजह ही नहीं है ये अन्नाजाली का नुहाती इसलिए कि वो नुहात के इतफाक के साथ जायज़ है मुसनफ़ अलामा तफ्तरजान रहमत कहते हैं कि मेरे तो मज़े आ गए कि मैंने एक बात क्या कही अरे मैंने एक बात क्या कही कि नाहू के कायदे के नाहू के कायदे के मुआफिक हो मुताबिक हो और फिर उसके अंदर ताकीद हो है ना और बाद लोगों ने क्या कहा बाद लोगों ने कहा कि देखो हजरत आपने जिक्र किया है इसके अंदर के भी मुस्तना पहला रहा है और मुस्तना मिन हो बाद में आ रहा है और आपने इसको ताकीद के लिए जिक्र किया गया देखो इसके अंदर पेचीदगी पैदा होगी तो कहते कि मजे आ गए देखो अल्लाह का कायदे के मुआफिक है लेकिन फिर भी पेचिदगी हो तो भी मैंने भी मैं भी यही कह रहा हूँ कि देखो ना के कायदे के मुआफिक हो फिर भी पेचीदगी हो सकती है आप तो मान जाओ समझो तो कुछ आया ना होगा मान जाओ देखिए आ जाएगा समझाऊंगा समझाऊंगा कुछ समझ आया क्या आया तो समझ बोल आया तो थोड़ा बारीक है लेकिन नहीं यहाँ ये कह रहा है ये कहने वाला कहने वाला ये कह रहा है कि ताकीद के बयान के अंदर जो आपने शेर में जिक्र किया है ना यहाँ पर ताकीद साबित की है किस चीज़ से कभी मुस्तना पहले मुस्तना मीनू बाद में है ना तो आपको जो है ये नहीं जिक्र करना चाहिए था क्यों इसलिए कि ये नुहात के नज़दीक क्या है बैठे ताकत नुहात जायज़ है इसलिए इस तरह कर सकते हैं कहते हैं कि हाँ बस मेरा तो हल हो गया मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि देखो नावियों के यहाँ जायज़ हो लेकिन फिर भी ताकिद हो सकती है होगी ना होगी होगी तो अरे कुछ समझ में आ रही है किसी के ये बारीक बात है मेरे खुद जब से लेके जोर के बारिश अरे बोलो ना कुछ तो बोलो ना ही तुझे ना ही और आगे तुझे कहो आगे हाँ फिर हम कोई तरीका क्या करेंगे तो यूं के नहीं आई एक बात समझो पहले ना मशहूर नाहवी कायदे के अगर मुखालिफ हो तो उसको क्या कहते उसके अंदर क्या होता है ज़ौफ़ नाहवी कायदे के ख़िलाफ़ हो तो ज़ौफ़ तालीफ का ठीक है तो कहने वाले ने ये कहा था कि देखो ज़ौफ़ तालीफ ही काफ़ी है ताकीब की ज़रूरत नहीं वो बात मुसनफ़ आली रहा ने कही थी अब फिर एक कहने वाला ये कह रहा है कि देखो मुस्तना मिनहू आपने यहाँ ये शहर के अंदर जिक्र किया है कि मुस्तना पहले है मुस्तना मिनहू बाद में तो इससे ताकद हो रही है आपको ये नहीं कहना चाहिए क्यों ये तो नुहाद के कायदे के मुआफ़ है नुहाद के कायदे के मुआफ़ है तो नुहाद के कायदे के मुआफ़ है तो आप इसके अंदर इस तरह से पेचीदगी क्यों साबित कर रहे हैं कहते हैं कि ठीक है मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि नुहाद के कायदे के मुआफ़ तो हो जाएगी लेकिन उसके बावजूद भी की हो सकती है जैसे यहाँ पर हो रही है आ गया एक की तो आया किसी की और पूछ लेना थोड़ा दिमाग लगाना अपना भी वह भी हाजा और इससे जाहिर हो जाता है फसाद माकीला उस चीज का फसाद जो कहा गया है अन्नहु ला हाजत फी बयान ताक़ीद फिल बैती के ज़रूरत नहीं है शहर में ताक़ीद को बयान करने के सिलसिले में किस चीज़ की इलाज जिक्री तकदीम मुस्तना अल मुस्तना मिनहू मुस्तना को मुकदम करने के जिक्र की मुस्तना मिनहू पर बल्ला वजह बल्कि इसकी कोई वजह ही नहीं है इसलिए जायज़ है नहाद के इतफाक़ के साथ मुसनफ कह रहे कि हाँ बस मेरा तो काम बन गया मुसनफ क्या कह रहे मेरा तो काम बन गया तुमने खुद अपनी जबान से कह दिया कि नाहुल कायदे के मुआफ़ है और मैं क्या कह रहा हूँ कि नावी कायदे के मुआफ़ हो और उसके बावजूद ताकत पाई जाए जिससे सुनते पाई जा रही है आगे उसी को फन मारे फिर लायक चूरू पिटाई हो जाएगी तेरी गड़बड़ जाते करेगा तो इद लाफा इसलिए कि पोशीदा नहीं है अनहू यूजू ज़्यादातर ताक़ीदी के ताक़ीद की ज़्यादती साबित हो इसलिए पोशीदा नहीं है कि ताक़ीद की ज़ाती साबित हो ताक़द की जाति को वो वाजिब करता हो साबित करता हो क्या जब इसके अंदर मुस्तना पहले हुआ और मुस्तना में बाद में आया तो फिर ये मौसू इधर आ गया सिफत वहाँ आ गई खब मुफ्त आ गया खबर वहाँ आ गई अजनबी के फसल हो गए तो जब इसके अंदर ये चीज़ भी आ गई मुस्तना पहले मुस्तना मिन हूँ बाद में तो इसने और उस ताकीद के अंदर इजाफा कर दिया जाति को साबित कर दिया और ये बात किसी पर मख्फी नहीं है वाह हुआ मम्मा शिद्दत वज़ौफ़ा कहते हैं कि अच्छा एक बात तो बताओ कि जो ताकीर है क्या ये शिद्दत और ज़ौफ़ को भी कबूल करता है तो ताकीर ज़्यादा हो कम हो ऐसा भी है क्या कहते कि वह हुआ और वो उन चीज़ों में से जो शिद्दत और ज़ौफ़ को कबूल करता है अरे हम्म। आई कुछ समझने बात कुछ के तो आ रही है कुछ के ना आ रही है वो कुछ और रात में समझ लेना थोड़ा जोर लगा रहो इसमें जब जोर लगाओगे फिर समझने की कोशिश करोगे ना आए तो फिर पूछना तो इनशाला आ जाएगी ठीक है ना खुद अपनी भी कोशिश करना व इमा फिल इंतकाली पीछे आया था कि ताकीद या तो किस में होगी नज़म के अंदर होगी या किसके अंदर होगी इंतकाल में होगी इंतकाल का मतलब मान हकीकी से मान मजाजी की तरफ जाना मान हकीकी से मान मजाजी की तरफ मुंतकिल होना वइमा फिर इंतकाली और या तकीद इंतकाल में होगी मुंतकिल करना किसी को बदला रहे कि इसका आज किस पर है आतफ़न आला कौली इम्मा फिन नज़मी अत है मुसनफ़ के कौल इम्मा फिन नज़मी पर आई यानी لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد لخلل واقع في انتقال الذهني من المعنى الأولي المفهوم بحسب اللغة إلى الثاني المقصود وہی بات بیان فرما رہے ہیں کہ کلام مراد پر ظاہر الدلالت نہ ہو وہاں پر تھا لفظوں کے اعتبار سے से لفظی پائی جا رہی تھی اور اس کے اندر ताक़ीद معنوی ہوگی कलाम मुराद पर ज़ाहिर दलालत न हो ऐसे खलल की वजह से वाकई की इंतकाल वाक़ हो जो खलल वाक़ हो काय में जहन को माने अव्वल से मुंतकिल करने में कौन से माने अव्वल अलमफूमी बेहसबिलगती वो माने अव्वल जो लगत के अतबार से समझा गया है जो लगत से मान अव्वल यानी जो लगत से समझा गया है और लगत से कौन से माना समझे जाते हैं माने माने हकी लगत से समझे जाते हैं माने हकीकी नीचे लिखा हुआ हम्म। इलसानी दूसरे माना की तरफ अल मकसूदी जो मकसूद हैं अरे दूसरे माना की तरफ दूसरे माना से मुराद माने मजाजी यानी हकी माना से माने मजाजी की तरफ इंतकाल हो अब ये जो होता है इसके अंदर बहुत से लवाजिमात बहुत से वसाइल आते हैं कि वास्तव के वास्तव से जो कोई बात समझ में आती है वदालिका बेसबब इराद लवाजम बईदती अलमुफ्तरती इरलवसाइत अलकसीरती माँ दलालती अलमकसूरी ककौल आखरी वह अब्बासबनफ़ी वलम नकुल ककौली शायर सात लोग बदारी अनतुम लतफरबू व तस्कुनाजमुदा मैं बस एक खुलासे के तौर पर समझ लो बाकी इसको अच्छी तरह समझाना पड़ेगा कि इसके अंदर बहुत से वसाइत आ जाते हैं उर्दू के अंदर मैं समझा देता हूँ बाकी अरबी के अंदर इंशाल्लाह कल मगस को बाग में जाने न देना वरना खून परवानों का होगा मगस शेर की मक्खी इसको बाग में मत जाने देना अगर वो बाग में जाएगी तो किसका खून होगा परवानों का होगा जो परवाने आते रहते हैं ना मोमबत्ती के ऊपर चिराग के ऊपर कीड़े से कैसे होगा अरे ऐसे होगा मगस मक्खी शेर की मक्खी जाएगी कहाँ बाग में जाकर उसका रस लाएगी रस लाकर छत्ता बनाएगी छत्ता बनाकर छत्ता बनेगा तो उसको फिर कोई जला देगा उसके बाद में मोम निकलेगा मोम निकलेगा तो मोमबत्ती बनेगी और मोमबत्ती बनेगी तो वो जलेगी जब मोमबत्ती जलेगी तो पर परवाने आएंगे जब परवाने आएंगे तो वो जल जल कर जला तो हो जाएगा तो कितना सारे वास्तव के बाद में ये बात समझ में आ रही